सख़्तु लॻे नकाश न सघी इस्लाम पद निज़ाम मिल उन दिन उहे हरूस माटा निशान तो कई बड़ा आ तो कई बड़ी तो के ಕರದೇವನ ಬಾಯಿಣಿ ಸಗತ್ ಮಾತಾಡೋ ಮೋಲ ದಮಡ ಸುಖ ಇದು ಮಂದ್ರ ಮೋಂಗ್ಯ ಕ ನೈ ಅಂದಾತಾದೀಣಿ ಸಗತ್ ಮಾತಾಡೋ ಮೋಲ शीर्ष डाणा लिखाए दो कोरे काग आ तो करियो देवल भाई सगत माता रो मोल जो पाबू सिर मोंगी दन थे लार कोई राखी सौंद सूर्य देवू कागद में साक जमी माता लिख दूं भेद विचार સાતું સવળોરી લીખું કાગદ મેં શાક પડું પડવાશો લીખ દઉં મારે અમલી ડેમ તો કે નહીં અંદાતાજી એને સગત માતા રો મોલ સારનો ભાટો પર રીસિયા રાખજો સડન કોળું મંડ પધારજો બસ ગાયો બહાર કાઢ 다들 봐. love it all. πόδι μου είναι. महाराज घोड़ी अश्वा रूप नौ पेज मोल ने पहला परसों दी नागा देंगी जाछड़ा बेटो बेटर को महाराज बिगड़े दान के नौ पाँच मोल मारो धूप दे लो देखो के मारो मारो दे धूप करियो जाओ ने हथ गणों पड़ी जात्रु गणाई आई तो तो दे ले उसे मरा तो ढूंढ करेंगे ढूंढ करतो करतो करतो करतो एक दिन ये और क्या माई बहादुरी कोई बड़ी दिशु आ गई दिशु आ गई तो गाँव बेला से तो मैं नाई को तो ऊँ जाऊँ भाई आज भूपे थी जोड़ी जाऊँ आज महाराज की बड़ी दिशु है जब जाऊँ रात रू गण आई जाऊँ तो हम कितना राजी वे को एक लो आयो है जाऊँ और भोपे उठे जा पड़े नाई कड़े जा पड़े बाकल में नाई कड़े भोपा जी जय महाराज ऋषा के भूपेश धोनी में बारीक से महाराज की थारी मात रो महाराज की बड़ी दिस अन असेब जात रो आगु पाखड़ में इन मुंडे बोलू नहीं आज का नो मात तू करो पास आवे भाई आज मुंडे थारे बोलू बोल आज महाराज तो महाराज बाबू जी ना कर थारी मान हुई तो ठीक पर मैं आयो तो कोड करने अपन खैर की बात को पाते गई तो करो के हे बाबू दे थक मटी वेके तो नो भूपो जी जाला कर तू फिर जोगे लाग लागी फटकार फटकार लागी इन क्या कटने धूप किया कटने ध्यान किया भूपे जी बिल्कुल मारा तो कौन ले लियो आ भूपे जी तन तन हाथ जड़ा उजर नहीं बैठा बैठा यूं करता करता एक दिन यो उन क्या बर्तियों कहो गया तने आले यूं नौपे जी मोहित में यूं किकर कोई बिको किकर कई दिन यूं बेमाता कोदू दलती ने उगी आती खबर ही कोई नहीं नाले यूं किकर गौ गया दिला दो आप Zako apel govori gajo sari, govori srce gajo, ये पेट भरे छोरी हू ई जाए तो घर तो ठीक है हारो सौ टाइम गायो बेड़ी कर परी इंतजाम कयो नौबा जी क्यों घर घर फिरता फिरो मोंगता तो गाँव से गया तो मैं उसे दो सको बेसर ही दिया थोड़े तो पेट भरे छोरी हुजे ही हाँ, ठीक है ये जानी भाई भई हथु तो बात ठीक है हारो त ठीक उधर कह गाल कया हक रो कूड़ो दिमाग जूड़ो दोड़ो कूड़ भूली जो है कूद गया तो रही मैं भी सरे नो खेड़ी से हम बैठ जाए अरोध एक एक एक महाराज ने करे भाई थारी मार दड़ो कोई उगी आतुरी खबर कोई धनी कौन दे लियो तो जगह धनी आज हूँ गयो सारो <clears throat> जरा उठे बदक महाराज कहो कदन उगो का सब राजा रो निर्मल भवन नौपे जी मोल धन से धन नौपे जी मोल दियो बनी में उसे बैठा खेजरी री गति रिंग सिया में बैठो पुजारो दोनों हाथों रही हथ जोड़ अर्जो कर रही हो पाबू पाल ने कोई भला वा गया सातू समझो पार कोई बूढ़ो नहीं होगी थोड़ी घूरी काल में जगो आठ बारह पौर होगी जगह अर्ज करूँ आपने दर्शन मन दिया जी पालू हलावो सातू समझो पार सूतरा सपने में ओद जा गया आप पौड़ी आज देखा ना सौंक बैठा जज कंदू उठिया खमा खमा राव को राठौड़ आज हूतोड़ा कर पर कोपिया મોડો સોંવતો ઘણો ઘોડો પર જે જાઓ નોપીથી મોજ સિગત પૌણ નોપોથી મોજ સતસુખ પેદડો ઝાડ નોપેથી મોજ ને તું દાલ ભીડ્યો ઉના પાછા હાલો તો દાલ પૌવા સોંવતો કયો કે અંદા હતા એક બાર એક મહિના ભરતા કહો ભૂપેલી હોય કે હકરી ખુલતી કે નહીં મહારાજ નોની સૌતા લેખોની જણા કહ્યો કે ગઢના ગોનમાં કરતા ધવળ ગાય નિત્ર મારા તુર્ક મોરિયાન થઈ ધરતી માથે સૂરમાં બાજુ કે આ મને થાય કોઈ તો કે મારા જોણી भी नागोर तो हाले पर नागोर थे के बिलासर नेड़ी थे ले जाओ ए अंदा तो जी गांव बेलासर है मजथली में गांव परसों मोंगी झुकी सारी में आप बेलासर पर परसों मोंगी हैगी दुनिया किए किन परसा देवा तो परसों देवनी री पर मारी पहुंच परसों देव राजा रण सिंह ने बीकानेर दरबार रण सिंह जी जको देव रेत ने गेलो कोई परसों देव हालो तो पर मारा हाथ जमा जवाब डब जगह बैठ जा सोनी राज हाथ में प्यावा हद बेगी सिंगारो सगत काल में सत जुग पैदलो मोडो सगत पर देण पासे लगाओ हुनर पागड़ा श्रृंगार सगत ने लाया बणेरो बार धोने आबे में समकी बीजली सड़ो सड़ो राव कोलूरा राठौड़ पगो ने ठहरे घूड़ी काल में हर पागल भमरिया न हाथ धनी मारा Hallelujah, Jehovah. कयो ग तारो तारो झिले मोंदला गल थी रहण पंथ गल झिलरी घोड़ी काल में एक दो बासो रिया अंदा था जी मो तीजे बासे में नौपे जी मोज सिगरत पावना नौपा मोज सूतो वतो जागा आई अश्वारी धनी लिस्मन देव ए अंदा था जी सूतो थो धनियो जी नींद धनियो लगायो सेव जागियो सूतरी आती लिया तो मैं घाल पायो पड़िया धनी दुश्मन देव रे पा मन थारी बात सेवा क्या छोड़ी लक्ष्मण ए जी नहीं मिलियो गूगल धूप आखा नहीं मिलिया धोली रहा तो मारे राखी थे आप शेर तक भरियो जमी माते पहुंच लो ए जी खून दो में भूले मन मार तो ए मंडिया कैसे घोड़ी सरू काट लगे रोटी दोंगे એ અંદાતાજી થોડા મુખ મેં ધીમો બોલ કોઈ નોપી થી મોઈ જો दुश्मन હોમળે किन जायो रोनी में धरती में रोनी रस पूज पूछ को मारे दीवड़ा धन खोज ले दे बूरी पाड़ू सो करा दो गिन गिनिए भोग को बेरी पाड़ दो सरवारो दे जे थू देवड़ो सुना दो सरुए लग था रीतियों सीम और पासो नौ पेज पूछ जाने धूप दिलायो was all